और जिस दिन आसमान फटकर एक बादल को राह देगा और फरिश्ते इस तरह उतारे जाएंगे कि उनका तार बन जाएगा